Thank you. Thank you. uh, ga ma ma ma gra sa pa ma pa ma ga ga ma pa ma ga ma ga re pa ma re ga sa re ga pa ma re ga re sa ga re sa ni sa re ga da Pama Pama Regareza Baba Maga Gajerega Pama Jegareza Reneza Rega Bada Nida Maregareza Sarega Bada Zane Magreza Reguna Ah Hey. आपका जो म्यूजिक के बारे में जो आपका थिंकिंग है विचार करना है और जितनी भी मैंने आपसे बातें की हैं उसमें आप अक्सर इस बात पर आते हैं कि अमेरिका साहब के में आपने कैसे उनको परखा ये भी बात है और क्या उन्होंने कहा ये भी बात है तो इसके बारे में कुछ आप कहिए <clears throat> हर चीज़ के बारे में क्या विचार थे लय के बारे में आवाज़ के लगाव के बारे में आमिर खान साहब की पहली बात तो मुझे ये बहुत पसंद आई के वो एक सूफी तो नहीं कहूँगा मगर उस्ताद अमीर खान साहब एक बहुत ही फ़कीराना तबीयत के लोग थे जो हर वक्त अपने ही रंग में मस्त अपने ही खुशबू में मस्त अपने गाने बजाने में अपना मतलब गाना बजाना यानी नहीं कि ख़ास उनका गाना बजाना हाँ मगर वो सोचते थे हमेशा ही जो वो गाते थे उसमें ही वो सोचते थे सोचना भी यही कि हमेशा मुझे पता नहीं और शागिर्दों को वो कहा नहीं कहा बहरहाल ये कि मैं उनके करीब था और जैसे बाज़ार जा रहे हैं तो वो कंधे पे मेरे हाथ है और वो मुझे पकड़ पकड़ के साथ चल रहे हैं और कभी जिक्र आया तो मैंने मैं कहता था कि हाँ मुझे गंडा वंडा बांध दीजिए आप तो हालांकि मुझे पता नहीं है कि आप ये जो भी सुने लोग मेरा ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ या टेप कर रहा हूँ या कुछ रिकॉर्डिंग कुछ आप जो भी है उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं उनके करीब इसलिए था कि एक रूहानियत के हिसाब से रूहानियत एक एक स्पिरिचुअल वजह से वो समझते थे कि ये लड़का है बहुत ही आशिक है गाने का मेरे गाने का गाना बजाना तो मैं उस वक्त भी करता था और उसके बाद भी करता रहा हूँ और करता रहूँगा जब ज़िंदगी है मगर उनकी खुशबू का मैं बहुत आशिक था आ, क्या करें ऐसी ऐसी बातें वो सुनाते थे मुझे स्पेशली हालांकि और उस्ताद लोग भी और गुरु लोग भी करते ही होंगे सब चीज़ मुझे कहा कि बेटे गाना बजाना बहुत ही एक ख़ास खुशबू है और आँख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे जिसके आंखें हैं वो सब कुछ देख सकता है और एक बात कहते थे कि चतुर की एक घड़ी और मूर्ख की सारी रेन चतुर की एक घड़ी मूर्ख की सारी रेन तो गंडा वंडे की तुम क्यों बात करती तुम मेरे बहुत करीब हो और मेरे बुज़ुर्गों से थोड़ा रिश्ता भी था उनके पिताजी का वो जानते थे हमारे बुज़ुर्गों को ये बात तो खराब लगे मगर मैं उनकी खुशबू का बड़ा आशिक था बहुत ज़्यादा और अभी तक आशिक हूँ मैं वो कहते थे कि देखो गाना बजाने की पहली बात तो ये है कि क्या मैं हमेशा संवाद को मैं बहुत पसंद करता हूँ अपने गाने बजाने में संवाद को देखता हूँ और ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि शॉर्टकट रास्ता भी है गला तुम्हारा अच्छा है और कापी भी तुम मेरी करते हो कॉपी करते हो और आ, मुझे सुनते हो मैं जैसे रियाज किया जैसे मैंने सीखा वो तो बहुत कठिन है इस ज़माने में मगर ये कि तुम इतने बच्चे भी नहीं हो जो मैं तुम शुरू से सारे के मैं प्रशंसा करवाऊँ सुनते हो सुनने शागिर्द होना बहुत ज़रूरी है गंडा बदला लो और आज ये गुरु बदला कल वो बदल दिया तो उससे बेहतर यही है कि सुन्नी शागिर्द जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपना बेटा तो बेटा होता ही है मगर दूसरा जो बेटा वो बेटे से ज़्यादा खिदमत करता है तो बेटा कुछ नहीं कर पाता और जो खिदमत करने वाला है वो ले लेता है तो तुम मुझे प्यार भी है तुमसे और तुम्हारा जहन बहुत अच्छा है तो संवाद को देखा करो हमेशा मैंने कहा संवाद क्या होता जी <laughs> तो कह रहे संवाद यही कि जो वादी है उसका संवाद संवादी तो जहाँ भी तुम खड़े हो गए जहाँ भी कोई बोल तुम कह रहे हो उसका संवाद देख लो उसका असिस्टेंट क्या है और सुबह का वक्त मैं वो उम्मीद करता हूँ आप बताएंगे बताएंगे हाँ हाँ तो सुबह का वक्त था एक दिन की बात है अब टाइम और दिन तो मुझे याद नहीं है मगर तकरीबन वो टाइम था फिफ्टी एट और ऐसा सेवन ऐसा टाइम था ऐसे हम्म। साल था दिन का मुझे पता नहीं कह रहे तो एक कंपोजिशन हमने एक सूझी है दिमाग में इस वक्त एक है बिलास खानी में है और तुम देखो इसमें तो वो शुरू हो गए और शुरू होना मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली तो मैं नहीं कर सकूँगा बहरहाल जैसा कि मुझे मैंने सुना सुर का लगाव और इसके लिए मैं पता नहीं अब ये कोई सुनेगा मेरा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले कभी कोई गलत हो तो माफ़ कर दें लोग बिलास खानी <laughs> फ़कीरानी बात है ये जिसको हमेशा वो म्यूज़िक के अंदर ही वो ईश्वर को देखते थे खुदा की इबादत उसी में Uh... <laughs> अष्ट मन निराकार ओंकारा अब वो, वो तो बहुत अच्छे फारसी के जाने वाले और हिंदी और और फिर आर्टिस्ट का तो यह है कि जहाँ मिजाज लग जाए नायिका भेद होते हैं दुख और सुख की बातें तो सब संसार में बनती है और परमात्मा के भी एक अलग स्पेशल एक आराधना का एक एक, एक टाइप एक होता है एक कैसे बात की जाती है रट मन निराकार ओंकार रटमन नेरा रटमा does it come? कंपोज किए हैं बहरहाल या किसी और के कंपोज किए मगर वहाँ से मिला तो उन्होंने ये कहा कि मैंने सोचा है हमेशा वो कहते थे सोचा है मैंने ये नहीं कहा कि मैंने बनाया है ये अच्छा। हमेशा कहते जमाल हाँ जमाल मैंने सुनो जरा मैंने सोचा है इसको और हर फूल की खुशबू देखिए मैंने आज खास सच बात बता रहा हूँ मैं आपको लोग कहते हैं कि सरंगी वालों के खिलाफ थे वो ये मेरे दोस्त नारायण जी हैं मैं जो वर्ड है ईश्वर की किस्म खा कह रहा हूँ मैं मुझे ना राम जानी मेरे दोस्त हैं और वो तो इस दुनिया में अमीर खान साहब नहीं है मैंने बहुत क्या सन था मुझे पता नहीं है मगर क्या मैंने साहब बहुत राम जा नारायण जी के बारे में बहुत लोग ऐसा वैसा कहते हैं ये कहते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि हर फूल में खुशबू है यह लोगों का नज़रिया है ये वो क्या समझते हैं किसी को मगर फूल अपनी जगह फूल है उसमें एक वैरायटी है खुशबू है कलर है और जब भी आप देखेंगे इसको देखा तो उसमें वो भी खुशबू उसमें एक ब्यूटी है तो हर हर फूलों की वैरायटीज़ भी होती है और खुशबू होती है ये उनके वर्ड से कभी मैंने ये नहीं सुना कि वो क्या गाता है तो उनको फुर्सत नहीं थी कहने की वो अपना मस्त रहते थे गाने बजाने में तो मैं आपको एक और बंदिश सुनाता हूँ उनकी ठीक है मैं कर लूँगा Uh. Bravo. ve bagdara va ba ne ne ba ma re ma re ma ma za de ne ne za re ma ba ne za re re ma re za ne ba ne re za mo de la don ga oh. ठुमरी क्यों नहीं गाते थे <clears throat> ठुमरी भी हमने सुना है उनसे मगर अपने शौक के लिए ठुमरी हमने सुना है पर क्यों फिलोसफी क्या थी फिलोसफी ये था कि ठुमरी गाने वाले <laughs> पहली बात तो ये कि मैं गवैया हूँ अच्छा। मेरा रंग अलग है मैं ख्याल गाने वाला आदमी हूँ तराना या क्लासिकल ख्याल लिस्ट हूँ मैं मैं ठुमरी क्यों गाऊँ ये ठुमरी मेरा काम नहीं है किसी और का काम है और ठुमरी शोभा देता है लेडीज पे ज़्यादा और जो उनके स्पेशलिस्ट होते हैं ठुमरी के उनको उनका काम था या है मैं गवैया हूँ जिसको सुनना है थोड़ा बहुत वो तो गाना मेरा सुने ये सुने और जिसको ठुमरी सुनना है वो किसी और जगह जाए ये बात है और गज़ल भी गाऊँ ठुमरी भी गाऊँ दादरा भी गाऊँ कहरवा भी गाऊँ ये भी सब फ़ायदा क्या है मेरा धंधा नहीं है और जिसका काम है ये बात है ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी हुए हैं कि जो सब कुछ मैं ही करता हूँ तो उसके लिए जो उनके रिश्तेदार जो हैं ख़ास भाई बंद हैं उनको वो मतलब समाज ने नेगलेक्ट कर दिया बाद में क्योंकि सभी को जब मेरी पर्सनालिटी आपके पर्सनालिटी स्टेज पे बैठा हूँ और गा रहा हूँ मैं सबकी वाह वाह मुझे मिल रही है और जो स्पेशल आदमी है किसी काम का मगर वो मेरे अधीन या अंडर में है तो वो कुछ कह ही नहीं सकता मुझे अच्छा ये कहा जाता है इसका बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि आमिर खान साहब जो उनके एक आमिर खापन है जो उनकी गायकी बनी उसमें वहीद हुसैन खान साहब का कितना इन्फ्लुएंस है और भंडी बाजार घराने का कितना इन्फ्लुएंस है देखिए ये तो बहुत बड़ी बात आप मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि ये मुझे हक कहा जाता है मुझे ना ये मुझको हक नहीं था पूछने का उनको और ना ही मैं अब मुझे हक कहने का ये तो हमारी हैसियत से बहुत बड़ी बात थी हमको तो गुरु के सामने नज़र उठाने का भी मौका नहीं मिला और जो कुछ बात पूछना था वो एक अजीब किस्म की रिक्वेस्ट पूछा नहीं होगा उनसे हाँ आपको देखिए वो तो उनकी अपनी एक पर्सनालिटी तो हाँ। बनी है ऐसा तो कोई पहले नहीं गया है पर उसमें इन, लो, इन लोगों से उन्होंने क्या कुछ कोई उनके प्रोग्रेस में कोई मदद की मैं तो ये कह नहीं सकता हूँ बारह लेख किसी ज़माने की बात है कि उन्होंने उसको क्लियर किया था कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं वही खासा भी कॉपी करता हूँ बस कहा था उन्होंने ऐसा मगर मैंने सोचा है इसको और मैं नहीं करता हूँ उन्होंने मना किया लोगों का ख्याल ऐसा है और उन्होंने मेरे सामने कभी ये भी नहीं कहा कि मैं भिंडी बाज़ार से मुझे मिला है ऐसा नहीं सुना है कि मुझे पता नहीं बहरहाल ये कि शामिर ख़ान साहब जो उनके पिताजी थे उन्होंने भिंडी बाज़ार वालों से सीखा है या उसका मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है ना मैं चाहता हूँ ये बात मैं पढ़ना बहरहाल वो सोचते थे ही इसमें कोई शक नहीं है और रजा अली खान साहब देवास वालों का काफ़ी असर था उन पर तानों में में हाँ मगर वो बहुत ही इज्जत के साथ उनका नाम लेते थे अच्छा। और खान साहब भी उनको बहुत बचपने में प्यार करते थे इतना ही हमने सुना है और कोई खान साहब के शिष्य हों इस जो ज़्यादा करीब हो वो शायद इस बात पर रोशनी डाल सकते हैं हमें तो कहना चाहिए भी नहीं छोटी में बड़ी बात हो जाती और किसको फुर्सत हमें तो आपने और कौन से कौन सी खूबसूरतियाँ देखी होंगी हाँ तो हमने बहुत पसंद था अभी मुझे बहुत पसंद है था और रहेगा क्योंकि सारे गुणी लोग गा रहे हैं आजकल ऐसा नहीं है कि सब और हर फूल में खुशबू है हम्म। पहली बात तो ये कि हमको मना ये कहा कि उसमें उसकी जो है उसमें कुछ गुण है या अवगुण है उसका आपको कोई हक नहीं कहने का अच्छा ही लोग जो अच्छाई किसी में है उसकी तारीफ करनी चाहिए और अच्छे के साथ बुराई तो संबंध है ही एक तो ज़रूरी है ये हर चीज़ का जोड़ा है शाम सुबह और रात और दिन और क्या कहते हैं उसको पानी और आग और अच्छाई बुराई और ये सब का जोड़ा है मगर हमें अच्छाई के लिए ही कोशिश करनी है कि जो किसी में अच्छाई है वो लेनी चाहिए बुराई के कोई ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्या है ये जो लगाव था उन्होंने खास बनाया अपने मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ बहरहाल ये कि जब हमारा बचपना था तभी से हम सुनते उनको आ रहे हैं और यही आवाज़ उनका था बढ़िया हाँ ये जो लगाव आवाज़ का मैं ज़रूर कहूँगा इसमें कोई भी अगर मेरा ये आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ कुछ सुने उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे उस्ताद थे वो और मुझे सर्वप्रिय थे और अभी भी प्रिय हैं मुझको मगर मैंने ऐसा लगाव सुना नहीं आकार में ही तानपुर छिन्न में ही मुझे मज़ा आता था तानपुर अच्छा वो बात करते नहीं थे किसी से ज़्यादा कभी नहीं कभी बात नहीं करते थे जो पूछा आपको उसका जवाब उन्होंने दिया हाँ और पढ़ाई में ज़रा वो अपना जो कुछ खास हाँ कुछ किताबें वगैरह थी उनकी स्पेशल चॉइस अच्छे अच्छे बड़े बड़े नावल्स जो थे हम्म। वो पढ़ते थे उर्दू के या फारसी के तो यह है मुझे तो यह है कि पहली बात तो मैं बजाता हूँ सितार मगर गाना मुझे पसंद है मेरी बेसिक तालीम गाने से हुई थी जैसे कि गाने बजाने घराने में लोग गाते हैं भाई ख्याल भी सीख लो ठुमरी भी सीख लो दादरा भी सीख लो और सभी कुछ सीख लो पता नहीं क्योंकि वो तो एक बिजनेस थी हमारा ही गाना बजाना मगर जब होश में जब आए फोर्टी नाइन में फोर्टी में फोर्टी नाइन में और उसके जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमने करीब रहे ज़्यादा और प्यार हमको किया उन्होंने और कभी हाथ हाथ मिलाते नहीं थे वो सीनियर से मिलते थे हमसे तो और सीनियर से लगा लिया ये क्या अच्छा ही थी ये तो सेवेंटी टू में मैं बाहर चला गया जनेवा में था तब तो मैंने उनका सुना था कि उनका ऐसा हो गया तो उनके गाने का तो मैं आशिक रहा और सभी आशिक मैं तो ये कहूँगा आपने जो आपकी कंपोजिशंस बनाई है हाँ उस पर भी बड़ा उनका बिल्कुल रहे क्योंकि वो मेरा जी जी तो मतलब मैं क्योंकि मैंने उनको देखा ही उस ढंग से वो वही ढंग मुझ में है कोशिश की मैंने लेने की और अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश किया मैंने क्योंकि मुझे तो प्यारा वही है हाँ, हाँ। Good. ये मैंने बनाया है और मैं अर्पण किया मेरे सितार टीचर रविशंकर जी को da da da